जो अनुमान करते हैं उसके विषय परस्पर संतान अलग अलग संतान परस्पर संभव नहीं होते तो हुए भी एक प्रत्यय प्रवाह में आने वाले एक प्रत्यय के द्वारा दर्शन हो दूसरे प्रत्यय के द्वारा स्मरण क्यों होगा अन्य संतान इस संतान में क्या है भेद और कार्य कारण भाव कहने के लिए कार्य कारण भाव भी नहीं बन पाता है एक साथ रहने वाले में कार्य कारण भाव नहीं होता है और अतीत अनागत दोनों में कार्य भाव होने के लिए एक समय में दोनों रहे नहीं रहते वर्तमान में दोनों नहीं रहते ये बौद्ध मत के अनुसार क्षणिक मानेंगे तो ये सिद्ध नहीं होता है उसने कहा था न तो अत्र कीर्तनाशा कृताभ्यागम चोद्यम कृतनाश कृत कर्मण नाश अनुष्ठान क्या है कर्म फल दिए बिना नष्ट हो जाए तो इसको कहते कृतानाश और कर्म नहीं क्या फल भोगना पड़ता है अकृत कर्म न फल भोग करना पड़ता है अकृत से अभ्यागम कृतनाश अकृत अभ्यागम चारवाक मत केवल आपत्ति देह का आत्मा माने के सर्वे समाप्त हुआ तो आत्मा समाप्त हो गया कर्म क्या हुआ फल दिए बिना नष्ट हो जाएगा और नया जो जन्म होगा पहले नहीं था शरीर पर नया हुआ आत्मा उत्पन्न हुआ पर नहीं था फिर भी कर्म फल भोगना पड़ता है सुख दुख भोगना होता है तो नहीं किए हुए कर्म फल भोग कृतनाथ अकृत अभ्यागम ठीक इसी प्रकार यहाँ भी चित्तमेव कर्मणाम कर्तृ और भोग करेगा पुरुष तो कर्म पुरुष कर्मान कर्म नहीं करता है सांख्य योग मत के अनुसार कर्तृत्व पुरुष में नहीं है तो भक्तृत्व पुरुष मानते हैं प्रकृति चित्त ये कर्म की करता है और पुरुष भोगता है तो प्रकृति कर्म करे चित्त कर्म करेगा भोग नहीं करेगा कर्म नष्ट हो गया पुरुष नहीं कर्म क्या फल भोगता है कुछ अभ्यागम ये आपत्ति आई है तो इसको कहते इतना ऐसे आपत्ति नहीं है चित्त तो कर्म का करता है तदेव तजनिताभ्याम सुख दुखाभ्याम युजते वस्तुतः चित्त में ही कर्तृत्व है चित्त में ही सुख दुख है चित्त में सुख दुख है तो पुरुष में क्यों भोक्ता भोक्तृत्व मानते हैं सुख दुख है तो चिति छायापन्नम चित्तम भूगते पुरुष भोगाभिमान चित्ति चित्त अभेदा अभेद ग्रह सुख दुख है चित्त में जिसमें चेतन का आभास दिखता है सीधा भाष कहते हैं चित्त में पुरुष का आभास दिखता है चित्त छाया को प्राप्त करने वाले चित्त ही सुख दुख भूलते सुख दुख भोग करता है चित्त चित्त में चेतन का आभास दिखता है तो सुख दुख भोग दिखता है चिदाभास में पुरुष में आरोप करते हैं पुरुष भोगाभिमान भोगाभिमान क्या जाता है पुरुष में सुख दुख ज्ञान पुरुष उसको प्रकाश करता है चित्ती चित्त और अभेद कि चेतन है चित्त है अंतकरण उसमें चैतन्य का प्रतिम्ब दिखने से दोनों का अभेद ग्रह होता है घड़ा में जल है आकाश का प्रतिम्ब दिखता है बच्चा कहता घड़ा में आकाश है हिल रहा है जल आकाश का भेद ग्रहण नहीं होता है अभेद ग्रहण होता है अभिवेक का कारण इसी प्रकार चेतन और चित्त का एकत्व ग्रहण होता है अभेद ग्रहण चिदाभास दिखता है चित्त में तो चित्त अलग प्रतिम्ब अलग ऐसे पता नहीं चलता है अभेद ग्रहण होने से दोनों का एकत्व तो ग्रहण होने पर परस्पर धर्मों का अभ्यास अभ्यास होता है वेदांत में बताते हैं दोनों का एकत्व तो ग्रहण हुआ धर्मी का एकत्व तो, धर्मी अभ्यास हुआ चित्ती चित्त दोनों का और धर्म का अभ्यास होता है चित्त का सुख दुख चित्त में दिखता है चेतन का चैतन्य चित्त में दिखता है इसलिए चेतन होम कर्मी चेतन होम भूखते भूखे इस प्रकार अभिमान होता है प्रत्यम प्रतीत्य समुत्पन्ना स्वभाव तादृश यत्व स्मरती फलम तो उपभुंजते न त्वन्नी ये कोई कहते हैं बौद्ध लोग सप्रत्यम प्रतीत्य समुत्पन्ना नाम वो प्रत्यय है कारण अपने कारण को प्राप्त करे कारण से उत्पन्न होते हैं प्रत्यय आलंबन प्रत्यय समानांतर प्रत्यय अधिपत्य प्रत्यय आलोक ये चार प्रकार मानते हैं जिस विषय का ज्ञान है वो आलंबन प्रत्यय पूर्व ज्ञान उत्तर ज्ञान का कारण होता है समानांतर प्रत्यय और सामग्री इंद्रिया अधिपति प्रत्यय कहते हैं आलोक सहकारी कारण है ये प्रत्यय का तो कारण कारण से ज्ञान चित्त उत्पन्न हो जाता है इसमें हेतु के संबंध से प्रत्यम प्रतीत्य समुत्पन्ना चित्तों का ये स्वभाव है ऐसा तादृश यत्व स्मरती फलंक भुवंजत वही चित्त उस प्रवाह में आने वाले पूर्व चित्त के द्वारा दृष्ट अनुभूत वस्तु का स्मरण करता है और फल भी सुख भोग करता है पूर्व चित्त में जो कर्म किया गया उसका फल भोग करता है न तो अन्य उसी प्रवाह में आने वाले चित्त में कर्म और कर्म फल भोक्तृत्व अनुभव और स्मरण होता है अन्य संतान में आने वाले चित्त में स्मरण आदि नहीं होता है यही सब स्वभाव है और कहेंगे स्वभाव क्यों ऐसा हुआ है तो बौद्ध लोग कहते न तो स्वभाव नियोग परिणत गौ अरहती स्वभाव नियोगम नारहती परिणगम से नारहती प्रश्न और निंदा नियोग ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों नहीं हुआ परियोग विपरीत अग्नि क्यों ठंडा नहीं करती ये परिणों का निंदा भी करती ऐसा ठीक नहीं जहाँ जिस प्रकार जिसका स्वभाव है इसके ऊपर क्या प्रश्न करना कोई तो पूछेगा अग्नि क्यों ठंडी नहीं बर्फ क्यों गर्म है बर्फ क्यों गर्म नहीं क्या उत्तर है स्वभाव क्यों हुआ तो प्रश्न है उसका क्यों ऐसे स्वभाव हुआ ये प्रश्न नहीं होता है स्वभाव तो स्वभाव है बर्फ तो ठंडा है क्यों गर्म नहीं इसमें प्रश्न नहीं होता है एवं भवत मेघम भवती वाह ऐसा होना चाहिए अग्नि ठंडी हो जाए बर्फ गर्म हो जाए ये कहा नहीं कर सकते हैं और कस्मा नहीं वह मिटेगा ऐसा क्यों नहीं नियोग ऐसे भवत न एवं मास्तु ये नियोग विधि परियोग विपरीत ऐसा क्यों नहीं होता ऐसे क्यों नहीं होता ऐसे प्रश्न उसके ऊपर विधि नहीं होती है स्वभाव के ऊपर इसलिए चित्तों का ऐसा स्वभाव है एक प्रवाह में आने वाले चित्तों में एक में दर्शन एक में स्मरण हो गया एक में कर्तृत्व एक में भक्तृत्व हो गया इस प्रकार कह करके यह पूर्व से न परितुष्यति कम प्रत्याह ऐसे जो पूर्व के बौद्ध के मत के अनुसार संतुष्ट नहीं होता तो उसके लिए कहते किंच कह करके आगे उत्तर देते हैं स्वानुभव अपन चित्त से अन्य से प्राप्ति चित्त यदि प्रतिक्षण अन्य अन्य हो जाए अपने अनुभव का अपराध हो जाएगा कैसा अपराध हो जाएगा यद अहम अद्राक्षम तत्सामी यद अस्त्राक्षम तत्पश्यामी अहमिति प्रत्यय सर्वस्य प्रत्यय से भेद सती प्रत्यय अभेदेन उपस्थित एक प्रत्यय विषय अयम अभेदात्मा अहम प्रत्यय कथम अत्यंत भिन्न से चित्त से वर्तमान सामान्यम एकम प्रत्ययनम आश्रय स्वानुभव अयम अभेदात्मा अहमित प्रत्यय यद अहम अद्राक्षम जिसको मैंने देखा था अभी उसको स्पर्श करा दूर से देखा पुष्प जाकर उसको लाया दूर से देखा कलम उसको लाकर उठाया यद हम अद्राक्षम तद हम स्पर्शामी पहले देखा था अभी स्पर्श कर रहा हूं जिसको पहले स्पर्श किया था ऐसे स्पर्श किया देखा नहीं फिर बाद में देखा जिसको स्पर्श किया था उसको देख रहा हूँ ऐसे कुछ हो गया कुछ स्पर्श हुआ तो देखा जिसको स्पर्श किया था उसको देख रहा हूँ जिसको देखा था उसको स्पर्श कर रहा हूँ ये कैसे होगा देखने वाला अलग है स्पर्श करने वाला अलग है देखने वाली चित्त अलग है स्पर्श करने वाली चित्त अलग है ऐसे कैसे ज्ञान होगा अनुभव होता अहम अहम अद्राक्षम अहम पश्यामी अहम अस्त्राक्षम अहम पश्यामी ये होता है तो इसे अहम अहम अनुभव होता है अहम इति प्रत्यय सर्व से प्रत्यय से भेद है सब प्रत्यय वाले चित्त यदि भिन्न भिन्न हो जाएगा प्रत्यय ज्ञान से भिन्न भिन्न है प्रत्यय अभेदन उपस्थित प्रत्ययी प्रत्यय वाला अंतकण एक अंतकण में उपस्थित होगा एक प्रत्यय विषय अयम अभेदात्मा अहम अहम पश्यामी दर्शन के साथ अहम अहम अस्त्राक्षम स्पर्श के साथ भी अहम दोनों के साथ अहम का कैसे होगा अहम इति तो अभेद प्रत्यय अहम अभेद आत्मा अहम इति प्रत्यय किंतु अत्यंत भिन्न प्रत्यय में कैसे संबंध होता है अहम स्पृशानी अहम अद्राक्षम ये कैसे होगा एक ही मानना पड़ेगा दर्शन स्पर्श करने वाले एक मानना पड़ेगा एक प्रत्यय में अभेद में उपस्थित होता है एक अभेद कौन है अहम प्रत्यय भिन्न भिन्न दर्शन ज्ञान अलग स्पर्श ज्ञान अलग है और अहम एक प्रत्यय है अभेद में उपस्थित होता है एक प्रत्यय विषय अयम अभेद आत्मा अहम इति प्रत्यय होता है भिन्न चित्त में अभेद अहम अहम कैसे होगा कथम अत्यंत भिन्न चित्त से वर्तमान भिन्न चित्त में अहम एक अभेद ज्ञान कैसे होगा सामान्य एकम प्रत्यय न नाते एक प्रत्यय वाले को कैसे आश्चर्य करेगा ये अलग अलग ज्ञान अलग प्रसन्न ज्ञान अलग दर्शन ज्ञान अलग और एक अहम प्रत्यय में के शासित होंगे भिन्न भिन्न यदि अलग अलग है इसलिए मानना पड़ेगा एक चित्त है स्थायी उसमें प्रत्यय भिन्न भिन्न हो तो ठीक है और प्रत्यय के साथ चित्त भी नष्ट होता है तो फिर एक में के शासित होंगे सामान्य में एकम प्रत्यय न आते स्वानुभव ग्राह्य अयम अभेदात्मा अहम इति प्रत्यय अपना अनुभव के द्वारा ग्रहण होता है कि अयम अभे अहम इति प्रत्यय होता है ये अभेद स्वरूप है मैंने देखा मैं सुन रहा हूँ मैं मैंने भोजन बनाया मैं खा रहा हूँ ऐसे ज्ञान होता है न से प्रत्यक्ष से महात्म्यम प्रमाणांतर न भूवियते प्रत्यक्ष जब अहम अभेद ज्ञान होता है वहाँ कोई अनुमान करके प्रत्यक्ष को अप्रमाण कर दो अनुमान करेंगे कि दीप तिखा भिन्न भिन्न होने पर भी दिखने पर भी एक दिखने पर भी भिन्न भिन्न है ठीक इस प्रकार अहम ऐसे एक ज्ञान होने पर भी वो भिन्न भिन्न है पुरुष तो ऐसे तो प्रमाणांतरण अनुमान केवल अनुमान ही दूषित हो जाएगा प्रमाणांतरण से प्रत्यक्ष बल व्यवहार लगते अन्य जो प्रमाण है प्रत्यक्ष को प्रमाण मानेंगे तो आगे तो अनुमान आदि करेंगे पर्वत को देखा पर्वत धूम देखा व्याप्ति स्मरण हुआ तो यत्र धूम सत्र बनी तो पर्वत में धूम है तो बनी अवश्य ऐसे ज्ञान होता है अनुमान प्रबल भी सार्थक सिद्ध करेगा अरे प्रत्यक्ष को मानेंगे तो प्रत्यक्ष ही यदि प्रमाण ही न हो गया किसके बल से अनुमान फिर अपने अर्थ को सिद्ध करेगा प्रमाणांतर जो अन्य प्रमाण है प्रमाणांतरम जो च दिया है ये हेतु अर्थ में अन्य क्योंकि अन्य प्रमाण प्रत्यक्ष के सामर्थ्य से ही व्यवहार को प्राप्त करता है इसलिए क्या सिद्ध है तस्मद एकम अनेकार्थम अवस्थितम से चित्तम एकम चित्तम अनेकार्थम अवस्थितम एकम चित्तम अवस्थितम स्थिर रहता है उसमें अर्थ भिन्न भिन्न है कि सम दर्शन ज्ञान कुछ स्पर्शन ज्ञान कुछ समट ज्ञान कुछ पट ज्ञान प्रत्यय भिन्न भिन्न है अर्थ भी भिन्न भिन्न हो सकता है कि चित्तम एकम और अवस्थितम स्थिर है प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला जो बौद्ध लोग कल्पना करते वो अत्यंत अप्रामाणिक है कल्पना करते टीका में उदय व्यय धर्मान अनुभवान अनुभव स्मृति नाम से नाना देवी उदय उत्पत्ति व्यय नाश धर्म वाले धर्म धर्म उदय व्यय धर्मान उदय व्यय धर्म ये काम अनुभव ते अनुभव उदय वे धर्म उत्पत्ति नाश धर्म वाले अनुभवाना अनुभव की उत्पत्ति होती नाश होता है अनुभव स्मृति नाम से अनुभव हुआ फिर तो स्मरण हुआ नाना से भी ये अनुभव स्मरण से नाना हो किंतु उनका आश्रय एक चित्त तो होना चाहिए दर्शन ज्ञान भी अनुभव है स्पर्शन ज्ञान भी अनुभव है दोनों अनुभव तो अनित्य है अनेक है किंतु उसका आश्रय की चित्त है उदय धर्मान अनुभवान जो दर्शन और स्पसन सुना था अभी देख रहा हूँ श्रवण ज्ञान चक्षुष ज्ञान स्पसन ज्ञान ये अलग अलग अनुभव है सबका आश्रय एक ही चित्त है अनुभव स्मृति नाम से अनुभव पहले हुआ था अभी स्मरण करते हैं ज्ञान तो दो भिन्न भिन्न हुआ किंतु उसका आश्रय एक है तद आश्रय अभिनम चित्तम चित्त एक है जो अनुभव का आश्रय है वो स्मरण का आश्रय है जो दर्शन जन ज्ञान का आश्रय है वो स्पर्शन ज्ञान का आश्रय है तभी तो अहमिति प्रत्यय होता है प्रतिसंधान दोनों का प्रतिसंधान अनुसंधान करता है मैं अहम अपश अदर्थम अद्राक्षम इधानी पश्यामी दृशामी हम अस्त्राक्षम इधानी पश्यामी ऐसे होता है कथम अत्यंत प्रत्यान आलम्बे आलम्बित अत्यंत भिन्न प्रत्यय को कैसे आलम्बन विषय करेगा प्रत्यय का आश्रय एक मानना पड़ेगा प्रत्यय का आश्रय भी एक अनेक हो जाएगा उनको कैसे ऐसे ज्ञान अनुभव स्मरण आदि जो अनु, अनुभव होता है एकत्र न मैंने देखा नहीं स्मरण हूँ मैं देखा मैं स्पर्श रहा हूँ कैसे आश्रय करेगा ननु ग्रहण स्मरण रूप कारण भेदात सारोक्ष अपरोक्ष रूप विरुद्ध धर्म संग्रह संसर्गादवा न प्रत्यभिज्ञान नाम एक प्रत्यय प्रत्यभिज्ञान कहते अयम घट ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान है किंतु जिस घट को मैंने देखा था वही घट यह है सोयम घट इसका नाम प्रत्यभिज्ञान यम लेखनी ये प्रत्यभिज्ञा है ये प्रत्यभिज्ञान यम लेखनी किंतु से यम लेखनी जो कलम कारण लेखन निकालती वही वही है सात इम लेखन इसको कहते प्रत्यभिज्ञा अयम देवदत्त ये प्रत्यभिज्ञा नहीं है इसका नाम देवदत्त कहा कि जिस देवदत्त को पहले लिखा था सोयम देवदत्त वही देवदत्त यह है ये प्रत्यभिज्ञा अयम घट इस ज्ञान को प्रत्यक्ष उसके लिए इंद्रिय सन्निकट कारण चक्षु के साथ घट का सन्निकर्षण से अयम घट से प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ कभी इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं घट का ज्ञान हो सकता है, है? कैसे होगा कर्तन इंद्रिय सन्निकर्षण बिना स्पर्शन ज्ञान होता है, हैं? इंद्रिय सन्निकर्ष के बिना घट ज्ञान हो सकता है, हैं? हो सकता नहीं स्मरण नहीं होगा इंद्रिय सन्निकट के ना स्मरण हो सकता है अभी इंद्रिय सन्निकट नहीं जिसको पहले देखा था उसका स्मरण होता है ना नहीं अभी स्मरण करने के लिए इंद्रिय सन्निकट चाहिए क्या इसलिए हाँ इंद्रिय सन्निकट तो अभी नहीं ना स्मरण के पूर्वक्ष ने इंद्रिय सन्निकट चाहिए क्या इंद्रिय सन्निकट नहीं तो कलम का स्मरण होगा आंख बंद करके कलम का स्मरण कोई कर सकता है नहीं कर सकते आंख बंद करो कलम का आसमान नहीं होगा कलम देखो आंख बंद करो कलम का आसमान होता है नहीं देखो देखो पहले आंख बंद करो कलम का आसमान होता है नहीं बताओ स्मरण करने के लिए स्पर्श करना जरूरी है ये होता है पहले अनुभव आता है संस्कार से स्मरण होता है तो स्मरण जो होता है ग्रहण स्मरण हाँ ये स्मरण के लिए संस्कार कारण है पहले देखा था तभी स्मरण होगा जिसका पहले दर्शन ज्ञान नहीं हुआ था उसका स्मरण होगा स्मरण करने के लिए पहले अनुभव होना चाहिए अनुभव जन संस्कार है संस्कार से स्मरण होता है स्मरण के प्रति संस्कार कारण है हैं मतलब स्मरण का क्या लक्षण है संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मरण है स्वयं घट ये ज्ञान के लिए संस्कार भी कारण है यदि संस्कार नहीं होगा स्वयं घट इसे ज्ञान होगा वही घट यह है इसके लिए संस्कार कारण संस्कार तो है कि इंद्रिय निकट नहीं होगा तो स्वयं घट ज्ञान होगा स्वयं घट सेयम लेखनी वही कलम हुई ऐसे ज्ञान होने के लिए इंद्रिय सन्निकट चाहिए या संस्कार चाहिए इंद्रिय सन्निकट जरूरत नहीं है नहीं अभी अभी इंद्र सन्निकट के बिना तो सोयम सेयम लेखन ज्ञान हो जाएगा लेखन संयम लेखन ज्ञान होने के लिए संस्कार भी चाहिए इंद्र सन्निकट तो भी चाहिए इंद्र सन्निकट होने से प्रत्यक्ष है संयम लेखन स कहने के लिए संस्कार तो चाहिए यम लेखनी कहने के लिए सन्निकट चाहिए संस्कार और सन्निकट दोनों होने पर प्रत्यभिज्ञा होती है इसका नाम प्रत्यभिज्ञा अयम घट ये प्रत्यक्ष हुआ और स्मरण करता है स माया दृष्ट स्मरण से यम लेखन ये होता है प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा में तत् तत्शब्द का रूप है स यम इदम शब्द का उसमें तत्ता और ऐसे में इदमता दोनों को विषय करने वाले ज्ञान का नाम है प्रत्यभिज्ञान तत्ताच जनता इति सत्य दंते तत्ताच दंताच इति सत्य दंते सत्य दंते अवगाहते इति दंता अवगाही तत्ता और इदंता दोनों को विषय करने वाले ज्ञान उसका नाम क्या है प्रत्यभिज्ञान प्रत्यभिज्ञान का सत्य अवगाही ज्ञान है सत्ता एजनता दोनों को विषय करने वाले ज्ञान का नाम प्रत्यभिज्ञा ये प्रत्यभिज्ञा के लिए क्या संस्कार चाहिए संस्कार चाहिए संस्कार है किंतु इंद्र सन्निकर्षण नहीं हुआ तो प्रतिभिज्ञा होती है तो दोनों चाहिए इसलिए ये संस्कार मात्र जन्य ज्ञान है प्रतिभिज्ञा संस्कार जन्य है संस्कार जन्य है तो स्मरण हो जाएगा प्रतिभिज्ञा स्मरण है क्यों नहीं संस्कार जन्य थे है संस्कार मात्र जन्य होगा तो स्मरण कहेंगे संस्कार जन्य तो है संस्कार मात्र जन्य नहीं प्रतिभिज्ञा प्रतिभिज्ञा के लिए संस्कार चाहिए क्या है चाहिए इंद्र सन्निकटन तो संस्कार मात्र जन्य होगी प्रतिभिज्ञा संस्कार जन्य है इंद्र सन्निकट जन्य है दोनों से जन्य होती प्रतिभिज्ञा इसलिए संस्कार मात्र जन्य नहीं स्मृति नहीं है तो इसको क्या कहेंगे अनुभव है स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव इसको अनुभव कहते हैं ये प्रत्येक ज्ञान को प्रमाण देते है वस्तु स्थायी है जिसको हमने पहले देखा था उसको अभी देख रहे हैं सोयम घट तो घट यदि पूर्व क्षण में नष्ट हो गया ये घट अलग है प्रतिभिज्ञा होगी स्वयं घट एक घट को देखा था वो नष्ट हो गया दूसरे घट को देखा कहेंगे स्वयं घट होगा एक घट स्थायी रहे पहले देखा था अभी देख रहे थे यम तो घट ये प्रतिभिज्ञा होती है प्रतिभिज्ञा है प्रमाण इसी प्रमाण के द्वारा बौद्ध मत का निराकरण करते हैं आपको तो सब क्षण गए हम जिसको कार्य देखे थे तो आज इसको देख रहे हैं जिस पर्वत को दस साल पहले देखे अभी भी पर्वत दिखता है क्षण के था एक क्षण में देखा दूसरे में देखते आंख बंद कर देखो भी कलम कलम दिखते है हाँ? आंख बंद कर देखो दिखते फिर आंख खोलो दिखते हैं आंख खोलेंगे तो दिखेगी अभी देखते समय जो कलम पहले देखा था वही कलम या दूसरा कलम तो है लेखन वही कलम है दूसरा नहीं आंख बंद कर फिर देखो वही कलम या दूसरा है ये इसको कहते प्रतिबिंब वही कलम स्वयं तो लेखन और यदि प्रतिक्षण उत्पत्ति नाथ वाला है क्या कहना चाहिए वो दूसरा है ये दूसरा है दूसरा है ऐसा होता है कभी देखो ये दूसरे लेखन ऐसे कहते हैं प्रतिभिज्ञा है स्थायी अभी बौद्ध लोग तो कहते प्रतिभिज्ञा नाम का एक ज्ञान नहीं न्याय में तो सिखाते प्रतिभिज्ञा एक ज्ञान श्रेयम सोयम घट सोयम देवदत्त एक ज्ञान है वो बौद्ध लोग कहते सत स्मरण ही अयम यम है अयम प्रत्यक्ष दो ज्ञान है एक ज्ञान है नहीं प्रतिभिज्ञा नाम का जैसे क्या लिखा है ननु ग्रहण स्मरण रूप कारण भेदा पारोक्ष अपरोक्ष रूप विरुद्ध धर्म अंतर्गात न प्रत्यय ज्ञान नाम एक प्रत्यय ग्रहण स्मरण रूप कारण मेरा एक ग्रहण प्रत्यक्ष स्मरण है ये दोनों कारण भिन्न भिन्न है भिन्न से एक स्वयं देवदत्त सायम लेखनी ये प्रतिभिज्ञा कोई है नहीं ग्रहण का कारण भिन्न है स्मरण का कारण भिन्न है प्रत्यक्ष कारण इंद्रिय सन्निकट स्मरण का कारण कारण संस्कार ये दो ज्ञान ही सोयम घट है क्या कहा थ घट अयम घट एक है सह घट का प्रत्यक्ष हो रहा है सो तो सह का घट प्रत्यक्ष होता है वो परोक्ष अयम घट का परोक्ष है अपरोक्ष है ये परोक्ष है अपरोक्ष है अपरुक्ष सण स्वयं प्रत्यक्ष है अयम स्वयं अपरुक्ष है प्रत्यक्ष है ये अयम स्वयं प्रत्यक्ष है सण प्रत्यक्ष है क्या है कारुक परोक्ष है परोक्ष एक अंश में परोक्षत्व एक अंश में प्रत्यक्षत्व दोनों एक ही कैसे होगा देखो पारोक्षा परोक्ष रूप विरुद्ध धर्म संसर्ग अथवा परोक्षत्व अपरोक्षत्व परोक्षत्व किस अंश में सह अयम अंत में अपरक्ष दोनों एक ज्ञान में परोक्षत्व अपरक्ष दोनों आएगा दोनों नहीं आएगा एक में परोक्षत्व अपरोक्ष किस रहेगा इसे बहुत लोग कहते ये एक ज्ञान है ही नहीं एक यदि ज्ञान हुआ या तो उसको परोक्ष कहो नहीं तो अपरोक्ष कहो और उसमें परोक्षत्व उसमें तो दोनों किस आएगा परोक्षत्व अपरोक्षत्व रूप विरुद्ध धर्म संसर्गाद विरुद्ध धर्म के संबंध के कारण एक वस्तु नहीं है का नाम एक प्रत्यय नास्ती प्रत्यभिज्ञा नाम के एक प्रत्यय ज्ञान है ही नहीं क्यों नहीं दो उसका हेतु दिया एक प्रत्यभिज्ञा नाम का है ही नहीं प्रत्यय क्यों नहीं कितने हेतु दिया है एक कारण भेदात दूसरे विरुद्ध धर्म संसर्गा ग्रहण और स्मरण रूप का कारण भिन्न भिन्न है इसलिए प्रतिभिज्ञा में एक ए प्रतिभिज्ञा एक ज्ञान है दूसरा है परोक्षत अपरोक्ष रूप विरुद्ध धर्म का आश्रय होने से प्रतिभिज्ञा नाम के एक प्रत्यय नहीं यत प्रत्यय न चित्त से कदाचार आपको तो प्रतिभिज्ञा होने से प्रत्यय वाले प्रत्यय चित्त एक है जिस चित्त में पूर्व अनुभव हुआ था उस चित्त में अभी वर्तमान अनुभव हो रहा है तो एक प्रत्यय दोनों समय में रहने पर ही स्वयं घटे से प्रतिज्ञा होगी ग्रहण स्मरण होता है इसलिए प्रत्यय एक है किंतु प्रत्यभिज्ञा एक पहले सिद्ध हो तो दोनों पूर्व क्षण उत्तर क्षण में रहने वाले चित्त एक सिद्ध होगा प्रत्यभिज्ञा एक नहीं है वो अलग अलग ज्ञान एक स्मरण एक प्रत्यक्ष एक ही नहीं तो फिर प्रत्यभिज्ञा नाम एक वस्तु सिद्ध नहीं होने पर चित्त की स्थिरता कैसी सिद्धि होगी न चित्त प्रत्ययी कौन है प्रत्ययी प्रत्यय अस्मिन स्थिति प्रत्ययी कौन प्रत्यय है चित्त प्रत्ययन चित्त प्रत्ययी चित्त में एकता सिद्ध एकता की सिद्धि किससे होती है प्रत्यभिज्ञा से अब प्रत्यभिज्ञा की सिद्धि नहीं हो तो चित्त में एकता की सिद्धि कैसे होगी इतः स्वानुभव अपनवत चित्त से अन्य प्राप्त चित्त को अन्य अन्य कहोगे अनुभव का अपलाप करना पड़ेगा ननु कारण भेद विरुद्ध धर्म संसर्ग अथर बाधु को उक्त बौद्ध लोग शंका करते हमने तो कहा ये अनुभव अपलाप कैसे होगा दोनों में कारण भेद है तो अयम एक में तो संस्कार कारण है एक में अंदर सन्निकर्ष कारण दो ज्ञान है विरुद्ध धर्म संसर्ग विरुद्ध धर्म संसर्ग क्या है एक में परोक्षत्व है एक में अपरोक्षत्व है ये बाधक है एक प्रतिभिज्ञा होने में बाधक है प्रतिभिज्ञा एक ज्ञान नहीं है इसे हमने कहा अतः न प्रत्यक्ष महात्म्यम प्रमाण से न प्रत्यक्ष का जो सामर्थ्य है उसका अन्य प्रमाण से दबा नहीं करते अपलाप नहीं कर सकते प्रत्यक्ष अनुसार सामग्री अभेद प्रत्यक्ष कारण ही सामग्री अभेद मानना पड़ेगा स्वयं घट स्वयं देवदत्त प्रत्यक्ष होता है इसलिए सामग्री एक मानना पड़ेगा एक ज्ञान है दोनों के सामग्री भिन्न अलग अलग नहीं दोनों के सामग्री है अयम घट स्वयं घट इस ज्ञान की सामग्री संस्कार भी है और इंद्र सन्निकट भी संस्कार इंद्र सन्निकट दोनों होने पर ही स्वयं घट ज्ञान होगा सामग्री समग्र काल कारण कलाद संपूर्ण कारण मिल करके एक सामग्री है जिससे स्वयं घट से प्रतिज्ञा होती है और पारोक्षापरोक्ष धर्म विरुद्ध उपादित न्याय कणिकाया न्याय कणिका ग्रंथ में परोक्ष अपरोक्ष धर्म का विरोध का प्रतिपादन किया तो ये नहीं एक अंश में परोक्षत्व सौ अंश में ऐसा उनसे कोई आपत्ति नहीं अपरिचित अयम समय है वस्तु स्मृति भिन्न ज्ञान अनुभव यह अनुभव में आ गया प्रतिभिज्ञा अनुभव के अंतर्गत है अक्षणिक अर्थ क्रिया ये बौद्ध लोग कहते हैं जो क्षणिक वस्तु है उससे तो कुछ कार्य होगा अक्षणिक स्थिर वस्तु कुछ कार्य नहीं करेगा कहते ये बौद्ध लोग कहते हैं सब क्षणिक है जितने यद सत तत्क्षणिकम जो वस्तु सत है वो क्षणिक है यत्र यत्र सत्वम तत्र क्षणिकत्वम जो क्षणिक नहीं होगा वो सत होगा असत हो जो जो सत है वो क्षणिक है जो क्षणिक नहीं वह असत है ऐसा कौन है जो क्षणिक नहीं असत होता है जो क्षणिक नहीं नित्य है वो असत है यद जो है वो क्षणिक है जो क्षणिक नहीं लगातार नित्य रहता है वो क्या होगा असत है जो सत है वो क्षणिक है जो क्षणिक नहीं वो सत्य भी नहीं तो असत है आकाश को कहते असत और नित्य तुच्छ वस्तु को कहते नित्य तुच्छ वस्तु असत है ना असत बंध्या पुत्र कहते तुच्छ वो नित्य है क्योंकि जो सत होगा तो क्षणिक हो जाएगा बंध्या पुत्र सत्य है क्या सत्य है इसे क्षणिक नहीं असत्य बंध्या पुत्र असत्य है असत्य भी नहीं बंध्या पुत्र असत्य है सत्य है असत्य है इसे क्षणिक होगा क्षणिक नहीं है बंध्या पुत्र क्षणिक नहीं चिरंजीवी है <laughs> ये बौद्ध लोग कहते जो सत क्षणिक सत क्षणिक क्षणिकम संत से निभागा जो असत तुच्छ के कहते ये यदि का नहीं स्थिर होगा असत होगा वो क्या कार्य करेगा तुच्छ तो कुछ नहीं कर सकता है इसे कहते नहीं अक्षणिक अर्थ क्रिया न्याय कणिका ब्रह्म तत्व समीक्षाभ्याम उपपादिता इसे सर्वम अवदातम अक्षणिक क्षणिक नहीं होने पर भी स्थिर वस्तु में अर्थ क्रिया प्रयोजन सिद्धि होती कार्य करण सामर्थ्य है ये नहीं कि तुच्छ हो जाएगा तुच्छ नहीं है स्थिर वस्तु ही सब है क्षणिक वस्तु में कार्य कारण भाव नहीं बनेगा स्थायी वस्तु में ही कार्य कारण भाव बनेगा ये तो न्याय कणिका एक ब्रह्म सिद्धि ग्रंथ है मंडन मिश्र का उसके ऊपर है ब्रह्म तत्व समीक्षा उसमें प्रतिपादन किया गया है वाचस्पति मिश्र ने बताया यदि सर्वम अवदातम शुद्धम निर्दुष्टम सब सिद्ध हुआ बौद्ध मत से ठीक नहीं जो कहते सब क्षणिक है वो ठीक नहीं इसने उनका मत का ज्यादा आदि नहीं लिया संक्षेप से कह दिया आगे अपरिकर्मी मतयो असूयादि मत हो समाधि तद उपाय संपत्ति अनुत्पादा चित्त प्रसादन उपायन असूयादि विरोधि न प्रतिपादित उपक्रमते एक होता है परिकर्म परिकर्म है परिष्कृति परिष्कार परिकर्मित मतिर यस्य सपरिकर्मित मति न परिकर्मित अपरिकर्मिता मतिर ये ते अपरिकर्मित मतय जिनकी मति का तो बुद्धि परिकर्मित परिष्कारित नहीं परिष्कृत नहीं हुआ जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई उनको क्या कहेंगे अपरिकर्मित मत परिकर्मित का क्या अर्थ हुआ परिष्कृत शुद्ध हुआ परिकर्म शुद्धि परिकर्मित शुद्धि शुद्ध जिनकी बुद्धि शुद्धि नहीं हुई अपरिकर्मित मती है उनकी बुद्धि में क्या है असूयादि मत असूया क्या है असूया गुणे तो विचार कहीं गुण देखें तो दोष दोष निकालने वाला दोष निकाल देगा कुछ बोलता है तो बकवास करता है नहीं बोलता है तो कहीं मूर्ख है कुछ आता नहीं क्या बोलेगा है क्या तो मनुष्य हाँ ठीक है यहाँ मत्ती दिया वहाँ मन कर दिया बुद्धि और मन कर करने तो मत है मन मत्ती दे दिया है असूया ईर्षा आदि वाली अं, बुद्धि में है अंतकरण में है ऐसे राग द्वेष जब तक है तब तो, तो कुछ आगे नहीं बढ़ सकता है समाधि तदुपाय संपत्ति अनुपाद अनुपादा समाधि समाधि का उपाय की संपत्ति प्राप्ति नहीं होती है चित्त प्रसादन उपाय चित्त पहले शुद्ध करने के लिए उपाय कर बताने के लिए चित्त प्रसादन चित्त में स्वच्छता प्रसादन स्वच्छता का उपायन उपाय कौन होगा जो अस्यादि विरोधी न हो अस्यादि की विरोधी है उपाय उनको उपदेश करेंगे जो कलमत है अस्यादि दोष है उनका शुद्ध करने के लिए उपाय बताते हैं उनके विरोधी न प्रतिपादित उपक्रम उपक्रमते प्रतिपादन करने के लिए आरंभ करते हैं यस्म शास्त्रेण परिकर्म निर्दिशते तत्सतम यस्य परिक्रम शास्त्र एदम परिकर्म शास्त्रेण निर्दिश्यते यस्य कस्य चित्त जिस चित्त का परिकर्म परिकर्म है शुद्धि यस्य इदम परिकर्म शुद्धि चित्त शास्त्रेण निर्दिश्यते शास्त्र के द्वारा उपदेश किया जाता है शास्त्र के द्वारा जिसकी शुद्धि का उपदेश किया जाता है जिस चित्त की सिद्धि का उपदेश किया जाता है तब कथम वो चित्त कैसे कैसे उसकी शुद्धि होगी और परिक्रम कैसा है सत्कथम उसका उपाय क्या है स्वरूप क्या है क्या फल है परिक्रम परिक्रम किम किम उपाय कथम का है किस प्रकार उसका उपाय क्या है स्वरूप कैसा है फल क्या है कथम कहकर प्रश्न किया उसका उत्तर देते हैं मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनाथ चित्त प्रसादनम मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाण सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाण भावनाथ चित्त प्रसादनम कितने पद हो जाएंगे चार पद है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम अलग अलग क्रम में पढ़ा सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना तक चित्त प्रसादन चार पदे सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम सुख दुख पुण्य और पाप ये जिस विषय में क्या करना मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा की भावना सुख कहीं देखा सुखी में क्या करना उसे मैत्री चाहिए कोई सुखी हुआ इच्छा नहीं होनी चाहिए वो सुख प्राप्त कर लिया द्वेष होता है हमको नहीं मिला उसको मिल गया सुख का देखने पर उसमें मैत्री करना मैत्री भावना कोई दुखी हुआ तो दुखी हुआ तो खुद बड़ा अच्छा हुआ अभी समझ में आया उसको <laughs> दुख मिला तो उसके प्रति क्या चाहिए करुणा दुखी को देखकर करुणा ये चित्त प्रसार रहने के लिए यही चित्त में दोष है कहीं सुख उत्कर्ष देखा तो सहन नहीं होगा और दुख दिया तो बड़ा खुश है ये चित्त में कारण थे यदि अपने मन में कभी ऐसा आता है ना किसी में उत्कर्ष देखने पर हम बड़े दुखी हो गया जैसे इसकी कोई हानि होगी कुछ नहीं किसको मिल गया ये क्यों दुखी है अपने तुम्हारा क्या बिगड़ा उसको मिल गया लॉटरी टिकट दस हजार मिल गया कोई पढ़ते हैं एक साथ कोई पास कर पा, अच्छा नंबर से पास कर लिया और दूसरे अभी नहीं प्राप्त करा वो बड़े दुखी बड़ी चिंता है क्या हो गया कुछ नहीं वो उसको मिल गया वो आगे चला गया आगे चला गया तुम ही चलो तो कौन मना करता है वो बड़े दुखी जी सपना नहीं हो गई एक साथ तो आते हैं कोई पढ़ लिया और कोई नहीं पढ़ पाया ऐसे भी होता है जो नहीं पढ़ पाता है रह गया कोई आगे पढ़ लिया फिर बाद में देखा उसके ऊपर बड़ा देश है ये आगे पढ़ लिया फिर बाद में नहीं पढ़ पाते बोलते हमारे से ये साथ साथ आए थे वो तो पढ़ लिया मैं तो पीछे पढ़ा और क्या पढ़ेगी अभी क्या लोग पढ़ेंगे चलो भागो ऐसे करके तो छोड़ देते हैं ये होता है दोष चित्त में कर्म तो दोष है कहीं भी उत्कर्ष तो देखने पर सहन नहीं होना ये है और दुख कहीं मिला किसको दुख उसके प्रति करुणा भावना करनी चाहिए न कि उसमें खुश होना चाहिए नहीं और कोई पुण्य कर्म करता है तो क्या करना चाहिए मोदी सर प्रसन्न होना चाहिए बड़े पुण्य कर्म करते खुश होना चाहिए पुण्य भी चाहिए और पुण्य पाप कर्म करता है तो क्या करना उपेक्षा ना उसका विचार ही नहीं करो पाप करता है तो छोड़ो उपेक्षा कर देना चाहिए उसके बार बार चिंता न करने की आवश्यकता नहीं पुण्य करता है तो खुश होना चाहिए ये भावना करने पर चित्त के स्वच्छता होती चित्त प्रसाधन अंतकोण शुद्धि के लिए अभ्यास करना पड़ता है सर्वत्र इस भावना करे अंतकोण शुद्ध सत्य होता है ये विपरीत भावना करे सत्र का मैत्री सु सर्व प्राणीषु सुख संभोग मैत्री भावे सुख भोग कर प्राप्त करते हैं जितने प्राणी उनमें मैत्री भावना करे जैसे अपने मित्र सुखी हो तो खुद है दूसरे कोई यदि सुख प्राप्त करता है भोग करता है तो हम मैत्री भावना करें और दुखित सु करुणा भावे करुणा दया भावना करे पुण्यात्म के सु मुदिता प्रसन्नता और पुण्यात्म के सु उपेक्षा भावे टीका में यश चित्त आगे विस्थित से अवस्थित से है हाँ अवस्थित से कहें पाठ है स्थिर चित्त विक्षित हो गया वित्थान हो गया समाधि को नहीं जाता है इदम परिक्रम शुद्धि मैत्री करुणा इत्यादि प्रसादन नित्यंतम सूत्रम सुखेतेषु मैत्री मैत्री का तो सौहार्दम बंधुता भाव क्या होगा ईर्ष्या कालुष निवर्तते ईर्ष्या रूप कालुष कलुषता ईर्षा भाव होता है वो नष्ट होता है चित्त से दुखित करुणा दया भावना करे करने से क्या होगा करुणा कैसा है आत्मनिव परस्मिन दुख प्रहाण इच्छा भावे का अपन में दुख मिला उसको दुख त्याग करने की इच्छा होती अन्य में दुख मिला उसको दुख त्याग करने की इच्छा करे इच्छा करने से क्या होगा परापकार चिकित्सा कालुष्यम चेत तो निवर्तते पर अपकार करने की जो इच्छा है ये कालुष्य अपने चित्त में वो नष्ट हो जाता है पुण्य श्रेष्ठ प्राणी से तो मुदिता पुण्य कर्म करते प्राणी उसे मुदिता हर्ष भावित तो क्या लाभ होगा असूया काल से निवर्तते असूया होती गुण में दोष आविष्कार कर तो नष्ट होता है चित्र में अपुण्य से तो उपेक्षा भावना करे जो पाप कर्म करते पुण्य नहीं करते और उपेक्षा क्या माध्यस्थम तो न राग न द्वेष कुछ नहीं करे और तो क्या होगा अमर्थ काल से निवर्त एक अमर्थ असहिष्णुता पाप करता है बड़ा हाँ, काफी है घृणा करते सहनशीलता नहीं तो ये दोष होता है ये अपने चित्त में दोष है कोई दूसरे पाप कर्म करता है उसको दोष नहीं देखो तो उसके प्रति अपनी भावना कैसे होती देखो उसके प्रति यदि कुछ देश भावना हो गया तो अपने में दोष है सर्वत्र बाह्य तो संसार जैसे कोई से रहेगा कोई सुखी कोई दुखी कोई पुण्य करता है कोई पाप करता है ये सब होने पर भी अपने चित्त में देखना अपने में गलती क्या है संसार में सुख है दुख है दोनों समय में अपने दोष देखना पड़ेगा कोई सुखी है अपने में दोष क्या है अमर्त देश कोई सुख हो हमको देश आवा तो अपने में दोष है कोई दुखी है प्रसन्नता है अपकार करने की प्रसन्नता है तो क्या अपने में दोष है और पाप कोई कर्म करता है घृणा भाव अपने में आए तो क्या है अपने में दोष है पुण्य कर्म करता है वहां तो जाए तो अपने में दोष है संसार में पिछले भगवान सब बनाए पुण्य पाप सुख दुख सब बनाए सबको दे करके अपने में दोष निकाल दोष है सर्वत्र ऐसे ऐसे करके दोष को दूर करना पड़ेगा पुण्य पापी में उपेक्षा करेंगे तो अमृत रूप कालुष नष्ट होता है ऐसे जो कालुष नष्ट हो जाता है ततच से राजस तामस धर्म निवृत्त राजस्थान तो निवृत्त हो जाएगा धर्म तो धर्म क्या होगा सात्विक धर्म शुक्र धर्म बढ़ता है सत्योत्कर्ष हो जाता है सत्योत्कर्ष अधिक सत्व होने से सत्योत्कर्ष संपन्न युक्त होने पर संभवती फिर वृत्ति निरोध पक्ष तस्य प्रसाद स्वभाव्यात चित्तम प्रसन्नति फिर वृत्ति निरोध के लिए प्रसाद स्वभाव चित्त स्वच्छ होने से प्रसन्न होता है वृत्ति का निरोध होता है प्रसन्न च बक्षमाणे भ्य उपाय एकाग्रम स्थिति पतम लगते ऐसा अंतगुण स्वच्छ होने पर शुद्ध होने पर चित्त स्थिति पद को प्राप्त करता एकाग्र होता है ये यदि भावना नहीं करे असत्याम आदि भावनायाम न ते उपाय स्थित कल्पन्ति भाव पहले मैत्री आदि भावना करने पर चित्त शुद्ध होने पर आगे चित्त स्थिति के उपाय कहेंगे उपाय करने पर स्थिति पद को प्राप्त करता है मैत्यादि भावना नहीं करेंगे आगे जो उपाय है उस स्थित तो स्थिति के लिए प्राप्त नहीं होता है आगे चित्त स्थिति के लिए उपाय अर्थात अंतरण शुद्धि चित्त शुद्धि समाधि आदि करने के लिए प्रयत्न करने के पहले ये भावना करना पड़ता है स्वच्छ अंतगुण होना चाहिए होने पर होगा राग देश युक्त पर निंदा करने वाला जितने बैठ करके चिंतन करे लाभ नहीं होता है इसलिए ये पहले साधक को करना चाहिए ये सूत्र याद रखना चाहिए सबको मैत्री करुणानुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तक चित्त प्रसादनम